की आवाज पढ़ाइए ओ ओ सायकालीन उपासना का प्रारंभ करते हैं आज की इस उपासना को अधिकांश आप स्वयं करते चले मैं मध्य मध्य में कुछ बोलूंगा निर्देश करूंगा पूर्व की भांति आसन लगा लें व्यवस्थित कर लें इस सायकालीन उपासना के लिए संकल्प करें केंद्रित कर बताइए प्राणायाम तीन प्राणायाम पूर्ण होने पर प्रत्याहार का संपादन करें प्रत्याहार के बाद धारणा लगाएं के बाद अब ओम के माध्यम से ध्यान करेंगे अर्थ की भावना अपनी इच्छा रुचि के अनुसार चुन लें किसी एक अर्थ की भावना श्वास भरें ओ करते रहें अर्थ की भावना को प्रमुखता देते हुए जिस एक अर्थ को चुने उसी पर केंद्रित रहें मन धारणा स्थल पर टिका रहे ओम का जप और अर्थ की भावना बचाए रखते हुए ओम का जप और अर्थ की भावना आगे गायत्री मंत्र अर्थ की भावना प्रार्थना कामना एक बार मंत्र का उच्चारण उसके बाद मानसिक रूप से जप और अर्थ चिंतन भावना today. मानसिक जब अर्थ की भावना केवल गायत्री मंत्र का जप धीरे से रुकेंगे आगे वैदिक संध्या के माध्यम से स्तुति प्रार्थना उपासना मन पर और संस्कार डालने का प्रयत्न जिन्हें मंत्र आते हैं अर्थ भी स्मरण है वे धीरे धीरे मंत्र के साथ साथ अर्थ की भावना करते चले पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक प्रार्थना भावी पुरुषार्थ के संकल्प पूर्वक प्रार्थना पिछली उपासना से लेके अब तक जो दोष हुआ है उस भावना को समाप्त करना उस संस्कार को हटाना ईश्वर के प्रति और अधिक प्रेम भक्ति का भाव उभारना जिन्हें मंत्र स्मरण नहीं है वे शांत स्थिरता से मंत्रों को सुने जितने पूर्व निर्देश स्मरण आए उसके अनुसार मन की भावना करते चलें Yeah. प्राणायाम पूर्ण होने पर अघमर्षण के लिए सज्जा प्रातःकाल की उपासना के बाद में जो दोष हुए हों जो दुर्भावना आई हो उसे मन में रखते हुए उससे दूर हटने की भावना अथवा पिछला कोई दोष बड़ा दोष दुर्व्यसन स्मरण कर लें उससे अपने को पृथक देखते चलें

विश्व मिषतो वशी तो स्वा غلاما स्वामी और रक्षक स्वीकारते हुए नमन का भाव ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुओं के सदुपयोग का संकल्प मुक्ति प्राप्ति के लिए उसे उपयोग करने का भाव द्वेष को छोड़ देने के लिए द्वेषी के साथ भी दुर्व्यवहार न करने के लिए उसे ईश्वरीय व्यवस्था पर ईश्वरीय न्याय में छोड़ने का भाव सामने की दिशा में मन को तो रक्षिता विद्या ईशवः तेभ्यो नमो दिपा दिशा की ओर दक्षिणादिगिन्द्रो रक्षिता पितर ईशव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो Santo पीछे की दिशा की तरफ रखें प्रति पति वेदा को रक्षिता रक्षितान्नमिषा ऋभ्यो नम ईशुभ्यो नम हेभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं बाएं हाथ की तरफ मन को रखेंगे उदीचे दिक्सोम स्वजो रक्षिता शनिरिषव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो क्षेत्रेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो की दिशा में कलमा शक्रीव रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो क्षेत्रेभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऊपर की दिशा में ऊर्धातिगृहस्पतिरधिपते क्षेत्रो रक्षिता वर्षमीशवा क्षेत्रेभ्यो नम ईशुभ्यो उपस्थान मंत्र ईश्वर के प्रति और निकटता और सन्निधि और आत्मीयता को उभारते हुए सस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जा श्वाय चित्र चित्रं देवानामुदगादनीकम् वरुण से प्रद्या प्रत्यक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु स्वाहा तच्चक्षुर्देव पुरस्ता शुक्रमुच्चरा पश्येम शरद शतम् जीवेम शरद शतम् शेणुयाम शरद शतम् प्रप्रवाम शरदः शतम्

शास्त्रीय मंत्र भूर्भुव सह तर पूर्वक धन कमाता हुआ और उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकूं हे प्रभु इन चारों के लिए धर्म के लिए अर्थ के लिए कामनाओं की पूर्ति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपकी कृपा मुझे सदैव अपेक्षित है आपकी कृपा से मैं सदैव आपका स्मरण बनाए रखूं आपकी न्याय व्यवस्था और आपके निर्देशों के अनुरूप आदेशों के अनुरूप चलता हुआ आपके और अधिक निकट आता जाऊं हे प्रभु इसी विधि से मैं शीघ्र ही मुक्ति को पा सकूंगा हे प्रभु मैं अपने समस्त कर्मों को आपकी प्राप्ति के लिए समर्पित करता हूं मेरा प्रत्येक कर्म आपकी प्राप्ति को मन में रख करके उसके अनुरूप होने पर ही होवे जो कर्म मुझे मुक्ति से दूर ले जाते हैं उन कर्मों से मैं सदैव बचा रहूं मैं अपने समस्त साधनों को समस्त कर्मों को आपकी आज्ञा के अनुरूप आपकी प्राप्ति के लिए समर्पित कर रहा हूं ईश्वर की महती कृपा का स्मरण करते हुए ईश्वर के प्रति अत्यंत विनम्रता का भाव आदर का भाव नमन का भाव लाएंगे शांति शांति शांति कुछ देर मौन शांत होकर बैठे उपासना से प्राप्त सात्विकता स्थिरता और शांति का अनुभव करें अब अपनी आज की उपासना का निरीक्षण कर लें जैसी जैसी उपासना हुई है उसके प्रति उसी प्रकार भावनाओं की अभिव्यक्ति कर लें की उपासना के अपने सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण में लें अपनी सर्वोच्च उपलब्धि का स्मरण करें उसे अपने मन में संभाल के रखते हुए अगली उपासना तक अपने मन को पुनः पुनः अच्छी स्थिति में ले जाते रहे अपने को दुर्भावना दुर्विचार से बचाते रहें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को बंद रखते हुए धीरे धीरे हाथ के उंगलियों में गति प्रदान करें मुट्ठी को एक बार धीरे से खींच लें और खोल लें हाथ को धीरे धीरे भिन्न स्थान पर ले जाएं पीछे हथेलियों का सहारा ले लें पैर की अंगुलियों में धीरे धीरे गति कर लें पंजों को चलाने टखनों को आगे पीछे ऊपर नीचे करने धीरे धीरे पैरों को खोल लें आसन परिवर्तित कर लें मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे गति करते चले जाएं कमर को कूलों को थोड़ा हिला डुला लें नेत्रों को थोड़ा सा नीचे की ओर खोल लें और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं मानसिक स्थिति बनाए रखें नेत्र बंद कर लें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में प्रार्थना प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जी जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बढ़े चले हम रुके न क्षण भी बढ़े चले हम रुके न क्षण दृढ़ संकल्प हमारा ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा ओ यह दृढ़ संकल्प मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे नेत्रों को थोड़ा खोल लें दृष्टि नीचे रखते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शांति